रेडियो मधु बनाया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर खिला मन का गुलशन का गुल सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन बन आया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर खिला मन का गुलशन रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रमेश चंद जी उपस्थित हैं उनसे हम लोग बातें करने वाले हैं आप आई स्पेशलिस्ट हैं तो आइए जानते हैं डॉक्टर रमेश चंद जी से उनके प्रोफेशन के बारे में और ग्लोबल सबमिट में आपने शिरकत किया है तो क्या कुछ समझा है सीखा है क्या अनुभव किया है वो सारी बातें सुनेंगे उनसे तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर रमेश चंद जी का बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे ये आपसे बातचीत करने का मौका दिया जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि आपसे बातचीत हो रही है और आप शिकर से बिलोंग करते हैं तो अपनी ये प्रैक्टिस कितना समय से आप रन कर रहे हैं वहाँ पर थोड़ा सा बताइए अपने बारे में मैं पिछले 2001 से वहाँ आई स्पेशलिस्ट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ हम्म, हम्म। गवर्नमेंट सर्विस में था अच्छा बाद में 2008 से मैं अपना खुद का प्राइवेट हॉस्पिटल किया हुआ हम्म, अरे वाह <laughs> तो ब्रह्मा कुमारी से कैसे जुड़ना हुआ सर आपका से सबसे पहले हम 2000 में एक आई कॉन्फ्रेंस में यहाँ आए थे हम्म, हम्म। हमारी युगल भी साथ में आई थी हम्म। उसके बाद में जब यहाँ का देखा वातावरण हमारी युगल को ज़्यादा पसंद आया और शुरू शुरू में उन्होंने किया फिर मेरे को भी उनका सहयोगी बन के सहयोग करना पड़ा अरे वाह और अब हमारे वहाँ गीता पाठशाला चलती है और जो हमारे युगल है वो बी के टीचर है <laughs> बहुत सुंदर बहुत बढ़िया आपने बताया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका और इस ग्लोबल सबमिट जो है विशेष यूनिटी और ट्रस्ट इस पर काम इस पर जो है इस थीम से काम हो रहा है इसके बारे में आप अपना अनुभव सुनाइए देखिए ब्रह्मकुमारीज की थॉट के हिसाब से हमें खुद को बदलना है हम्म, हम्म। हमें विचार बदलने हैं और दूसरा सबका रेस्पेक्ट करना है और इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो ग्रस्त में रहते हुए हम किस तरीके से जो बाबा की श्रीमत पे चल सकते हैं हम्म, हम्म। वो थोड़ा सा बहुत ही मतलब काफ़ी मुश्किल काम होता है उसके लिए काफ़ी घर वालों का सहयोग जरूरी होता है एक दूसरे को समझना जरूरी होता है कई तरह की समस्याएं आती हैं तो जैसे ग्लोबल सबमिट में कहा कि वन नेशन वन थॉट और सबका मालिक एक उस हिसाब से हमें चलते हुए अपने विचारों को बदलना जी जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि स्वयं पे काम करना बहुत ज़रूरी है <laughs> और मैं चाहूँगा जैसे आप आँखों के डॉक्टर हैं तो स्पिरिचुअलिटी में भी आँखों से रिलेटेड कोई ज्ञान बिंदु अगर आपको याद आता हो या आपने मनन किया हो तो ज़रूर बताइए हमारे सभी श्रोताओं के लिए आँखों से रिलेटेड आज के युग के हिसाब से या आप अपने आध्यात्मिकता के हिसाब से ज्ञान चक्षु के बीच में ज्ञान चक्षु में मैं ये कहूँगा कि जैसे मैं तो लौकिक में जो शरीर में जो आँखें होती है उनका इलाज करते हैं और ब्रह्म कुमारी के जो है वो अपने मन की आँखों का इलाज करते हैं तो जो मन में आपका विचार भी शुद्ध होना चाहिए तभी आके आपकी आँखें सही चीज़ें देखती जी जी जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि जैसे ज्ञान चक्षु की बात यहाँ पर ब्रह्म कुमारी इसमें सुनाया जाता है जितना हम इन नेत्रों से देखते हैं उतना ही ज्ञान रूपी नेत्रों को अगर हम जागरूक रखेंगे तो निश्चित तौर पे चीज़ों को बेहतर तरीके से समझना आ जाएगा हमारे पास तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है और जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक जो यहाँ के आदिवासी बेल्ट हैं यहाँ के लोग आपको सुन रहे हैं और इंटरनेट के माध्यम से काफ़ी लोग आपको सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए एक मैसेज या एक संदेश या कोई थाट आप शेयर करना चाहते हो तो ज़रूर हमें अपने शरीर को और आंखों को स्वस्थ रखने के अलावा हमें अपने मन को भी स्वस्थ रखना जी जी जी और आप मन को स्वस्थ रखने के लिए क्या करते हैं योग बाबा का योग सर्वोत्तम जी जी जी जी जी चलिए डॉक्टर रमेश चंद जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही सुंदर बात आपने बताया मैसेज में कि अपने विचारों को भी सुंदर करना है और अपने आप को ज़्यादा समय देना है जिससे हम अपने आप को बेहतर बना सकें अपनी कमियों को दूर करें और अपने अच्छाइयों को देखें और लोगों में भी अच्छाइयों को देखना है तो आंखें आपकी बहुत कीमती हैं और डॉक्टर साहब जैसे आँखों के डॉक्टर हैं तो आप जो है बहुत ही यूनिक काम करते हैं लोगों को जो है उनकी आंखें संभालने के लिए उन्हें अच्छे रखने के लिए आप सेवा दे रहे हैं तो डॉक्टर रमेश चंद जी बहुत बहुत साधुवाद आपको इस सेवा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक यू मन पंछी तो मीठे वतन मन पंछी तो मीठे वतन बाबा बाहे पसारे इशारों से बुलाए बाबा बाहे पसारे इशारों से बुलाए नैनों में अपने स्नेह लिए शक्ति भरने लिए ऐसी लगन में तू होके मगन ऐसी लगन में तू होके मगन देना है सकाश जग को पावन बनाना सबको देना है सकाश जग को पावन बनाना सबको उड़ जा मन पंछी तू मीठे वतन मन पंछी तू मीठे वतन बाबा बाहें पसारे इशारों से बुलाए बाबा बाहें पसारे इशारों से बुलाए क्या है उत्तम मधुर मिलन का संगम युग है जिसका नाम परम पवित्र किरण बर से सबसे ऊंचा अपना था मधुर मिलन का संगम युग है जिसका नाम परम पवित्र किरणे बर से सबसे ऊंचा वो अपना था देह से खुद को करके सबका प्यारा देना है सकाश जग को पावन बनाना सबको देना है सकाश जग को पावन बनाना सबको उड़ जा मन पंछी तू मीठे वतन मन पंछी तू मीठे वतन बाबा बाहे पसारे इशारों से बुलाए बाबा बाहे पसारे इशारों से बुलाए संग संग नैन निहारे सबसे सुहाना है मंजर बड़ा ही सलो के संग संग नैन निहारे सबसे सुहाना है मंजर बड़ा ही सलोना प्यारा अनुभव दिल में हुआ है ऐसा असर सूक्ष्म वतन से तू उड़ जाना भी बन जाना देना है सकाश जग को पावन बनाना सबको देना है सकाश जग को पावन बनाना सबको उड़ जा मन पंछी तो मीठे वतन मन पंछी तो मीठे वतन बाबा बाहे पसारे इशारों से बुलाए बाबा बाहे पसारे इशारों से बुलाए नैनों में अपने स्नेह लिए शांति शक्ति भरने लिए ऐसी लगन में तू लगन ऐसी लगन में तू होके मगन देना है सकाश जग को पावन बनाना सबको देना है सकाश जग को पावन बनाना सबको देना है सकाश जग को पावन बनाना सबको